तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मन में परम पिता परमात्मा का स्मरण रखेंगे प्रणव ध्वनि ओ

स्वाध्याय में पढ़ा दोनों मंत्रों में परमात्मा से प्रार्थनाएं की गई हैं परमात्मा से सीधे सीधे मांगने की प्रार्थना नहीं की गई बल्कि जो है उसकी रक्षा की प्रार्थना की गई परमात्मा से कहा गया कि हमारा यह सब नष्ट ना हो प्रारंभ किया मानो महांतम उत मानो अर्भकम हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वडील हैं उनका और मानो अर्भकम जो हमारे छोटे हैं बच्चे हैं अबोध हैं अल्प सामर्थ्य वाले हैं उनको मां वधि वध मत कर मत मार मान उक्षंतम और जो हमारे युवा हैं उनको भी मत मार मान उक्षितम और जो हमारे गर्भस्थ हैं उनको भी मावधि मत मार मानो पितरम मोत मातरम हमारे पितरों को पिता को माता को जो पिता सदृश हैं जो माता सदृश हैं उनको मत मार मान प्रिय तनवो रुद्र रिश हे रुद्र हे रुलाने वाले परमात्मा हमारे प्रिय पुत्रों को हमारी प्रिय संतानों को हिंसित मत कर और हमारे जो प्रिय शरीर हैं हमारे अपने उनकी भी हिंसा मत कर उन्हें नष्ट मत कर दूसरे मंत्र में भी इसी तरह की भाषा है इसलिए स्वामी जी ने दोनों मंत्रों को एक साथ लिया मानस तो के तनये मान आयु मानो गोशु मानो अश्वे शुरी ऋषा हे परमात्मा इनको नष्ट मत कर हिंसित मत कर किन किन को तो के हमारे जो छोटे बच्चे हैं और तने जो अन्य पुत्र हैं मध्यम या बड़े मान आयु और जो हमारे आयु को प्राप्त पुरुष हैं साथी हैं उनको और हमारी गायों और अश्वों में भी हिंसा मत कर उनकी भी हिंसा मत कर उनको मत मार अगली पंक्ति में कहा वीरान मानो रुद्र हे रुद्र हे रुलाने वाले हमारे वीरों को भी मावधि ही नष्ट मत कर और ये प्रार्थना कौन कर रहा है इन दोनों मंत्रों में तो कहा हविष्मत वयम श्रेष्ठ कर्म करने वाले हम ये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार की प्रार्थना हविष्मत हविष्मान लोग कर सकते हैं जो परोपकार करते हैं जो पुण्य करते हैं वो इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं उन्हें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हम हविष्मत सदम सदा ही इत्वा हवा महे आपको इसके लिए पुकारते हैं आपका आह्वान करते हैं आपकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन इन वस्तुओं का वध मत कर कल का मंत्र भी इसी प्रकार का था और वहां जो बातें बताई गई वो हमें यहां भी लागू करनी चाहिए पहली सावधानी तो ये कि इस मंत्र की भाषा को सामान्य रूप से देखते हुए हमें परमात्मा को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि परमात्मा हमारी इन सब चीजों को शत्रु के समान नष्ट करता है परमात्मा हमारी इन चीजों को नष्ट करना चाहता है ये विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए लेकिन प्रार्थना इसी तरह की की गई है हमारे इन इन वस्तुओं को इनको मत मार इनका वध मत कर तो स्वभावतः तो मन में आ जाता है कि परमात्मा इनका वध करता है इनकी हिंसा करता है तभी तो उसको कह रहे हैं कि इनका वध मत कर तो परमात्मा शत्रु के समान इनका वध नहीं करता है यानी परमात्मा वध तो करता है परमात्मा इनको नष्ट तो करता है किनको नष्ट करता है परमात्मा इनको यदि नष्ट करता है तो न्यायपूर्वक करता है कर्मानुसार करता है अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार करता है दूसरा चूंकि इन सबकी रक्षा परमात्मा करता है सतत रक्षा करता है तो उस परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है आप इन रक्षाओं को अपने इन सब रक्षाओं को छोड़ मत देना क्योंकि तो परमात्मा की रक्षा का छूटना इन सब का नाश है परमात्मा की रक्षा छूटने पर इनकी हानि होगी तो इस रूप में कहा जा रहा है हे परमात्मा इनकी सतत रक्षा करते रहना जैसा कि महर्षि ने इस मंत्र में भी अंत में कहा आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी और हमारे पुत्र धनेश्वर्य आदि की रक्षा करो इनकी रक्षा करते रहो तीसरी बात इसमें ध्यान देने की है कि ये प्रार्थना कौन कर रहा है और किस रूप में कर रहा है जो परोपकार के काम में लगे हैं जो परोपकारी हैं जो आर्य हैं श्रेष्ठ हैं वो ये प्रार्थना कर रहे हैं हर किसी को ये प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है हर किसी की इस प्रकार की प्रार्थना सफल नहीं होगी नहीं होती है परमात्मा को रुद्र मानते हुए भी परमात्मा इन सब की रक्षा करता है इन सबको नष्ट भी करता है ये मानते हुए भी ये आर्य श्रेष्ठ कर्म करने वाला यज्ञ करने वाला परोपकार करने वाला इस प्रकार की प्रार्थना करे ये आदेश है में और इस प्रकार की प्रार्थना की सार्थकता भी अवश्य होगी अवश्य होनी चाहिए और वो सार्थकता इस रूप में समझ में आती है कि हमने जो पुण्य कार्य किए हैं शुभ कार्य धर्म कार्य किए हैं उससे जो हमारा कर्माशय बना है जो पुण्य कर्माशय बना है हम उसका उपयोग अपनी इन सुविधाओं के लिए इन वस्तुओं की रक्षा के लिए कर सकते हैं हम उसका उपयोग परमात्मा से प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं हम परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम हविष्मन हैं हमने पुण्य कर्म किए हैं हमारा इतना पुण्य कर्माशय है और अब हम उसके फल के रूप में ये चाहते हैं कि हमारे छोटे और बड़े हमारे युवा और वृद्ध हमारे पशु हमारा शरीर ये स्वस्थ रहे ये नष्ट ना हो जिस प्रकार हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त धन का उपयोग अपने इष्ट मित्रों के लिए परिवार के लिए उनके हित के लिए करते हैं कर सकते हैं करना भी चाहिए उसी प्रकार से हमने जो पुण्य किए हैं उसका जो कर्माशय बना हुआ है उसका उपयोग भी हम इस रूप में कर सकते हैं यहां इस तरह की भाषा जब बोली जाए तो कुछ प्रश्न स्वभावतः उठते हैं पहला प्रश्न ये उठेगा कि हमने जो कर्म किए हैं उसका फल हमें ही मिलना चाहिए जो करने वाला है उसी को फल मिलता है उसी को मिलना चाहिए ये कर्मफल का सिद्धांत है नियम है हम ये कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा जो कर्माशय है हमने जो पुण्य कर्म किए हैं उससे इन औरों का हित हो जाए उनको उनके कर्मों के अनुसार मिलेगा पर जिस प्रकार से धन संपत्ति आदि हम कमाते हैं और ये मनुष्य शरीर हमें हमारे पुण्य कर्मों के कारण मिला है पर इससे ये प्रतिबंध तो नहीं लग जाता कि हम इस शरीर का उपयोग दूसरे के हित के लिए ना करें हम कर सकते हैं इसी तरह जिस धन संपत्ति को हमने कर्म करके पुरुषार्थ करके प्राप्त किया है वो हमारे कर्म के फल के रूप में साधन के रूप में मिला है उसका उपयोग हम दूसरे के लिए कर सकते हैं इसी प्रकार से हम अपने पुण्य का भी उपयोग कर सकते हैं इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं परमात्मा को इसको दो दृष्टियों से देख सकते हैं इन सब की हानि होने से मेरी भी हानि होती है मेरे को भी कष्ट होता है इसलिए परोक्ष रूप से मैं अपनी हानि से बचने के लिए इनका हित चाहता हूं ये नष्ट न हो ये मैं चाहता हूं अर्थात अंततः मैं अपना ही हित चाह रहा हूं मैं अपने धन का उपयोग अपने परिवार वालों के लिए यदि कर रहा हूं यदि परिवार वाले दुख कष्ट में हैं, रुग्ण हैं, तो उससे मेरे को भी बाधा होती है और ऐसे में यदि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं एक तरह से परोक्ष रूप से मैं अपने लिए कर रहा हूं दूसरी बात दूसरी दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं कि जब हम अपने कमाए धन का साधनों का उपयोग दूसरे के हित के लिए करते हैं तो परोपकार हम कर सकते हैं लेकिन इससे हमें कोई हानि भी नहीं होती है हम दूसरे का हित करके और अधिक पुण्य के भागी बन जाते हैं हम अपने द्वारा अर्जित धन संपत्ति को फल को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए दूसरों को देते हैं उससे और अधिक पुण्य कमाने के लिए उपयोग करते हैं जितने साधन हमने कमाए हैं प्राप्त किए हैं पुण्य से उन साधनों का उपयोग और अधिक पुण्य कमाने के लिए हम कर सकते हैं करते हैं पुण्य से जो ये शरीर प्राप्त किया है ये फिर और बहुत सारे पुण्यों को कर्म करने के लिए मिला है वो ईश्वर के द्वारा स्वीकृत है हम कर सकते हैं इस पर कोई ये आपत्ति नहीं कर सकता कि ये शरीर तो आपको आपके पुण्य कर्मों के फल के कारण मिला था इसका उपयोग आप दूसरे के लिए क्यों कर रहे हो और जब हम उसका उपयोग दूसरों के लिए करते हैं तब तो हम ये आपत्ति नहीं खड़ी करते कि किया तो किसी ने और भोग को ही रहा है जितना हमारा परोपकार है धन से सेवा से ज्ञान से किसी भी तरीके से जो भी परोपकार है वहां हम क्या ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि ये जो सेवा धन आदि आप दे रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं या आपने अपने पुरुषार्थ से फल रूप में प्राप्त किया है आपके कर्म का फल आप ही भोगिए दूसरे को क्यों दे रहे हैं तो परमात्मा ने दोनों व्यवस्थाएं की हैं हम अपने द्वारा अर्जित धन का उपयोग सामर्थ्य शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए भी कर सकते हैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है वो भी धर्म पूर्वक है किंतु इससे अच्छा है कि हम इस कमाई हुई वस्तु का उपयोग और अधिक पुण्य कमाने के लिए दूसरों के लिए करते हैं तो बिल्कुल वही बात हमारी इन इस प्रकार की इच्छाओं के लिए भी घटती है घटाई जा सकती है वयम हविष्मत हम सब पुण्य करता ये आपसे कामना कर रहे हैं तो जब इस प्रकार की प्रार्थना वेद मंत्र में आए प्रार्थना की सार्थकता इसी में है कि ये प्रार्थना सफल होगी होती है यदि ये प्रार्थना केवल बोलने के लिए हो और ये सार्थक सफल ना होती हो तो ये प्रार्थना परमात्मा कर ही नहीं सकता इसका आदेश परमात्मा दे ही नहीं सकता क्योंकि उपदिष्टे भी अनुपदेश वो उपदेश कर भी दिया और उसकी सार्थकता नहीं है तो वो उपदेश नहीं कहलाता है परमात्मा की हर पंक्ति सार्थक है बुद्धिपूर्वक ये रचना की गई है तो इस प्रकार की प्रार्थना की सार्थकता होनी ही चाहिए और वो इस रूप में समझ में आती है कि हम अपने पुण्य कर्माशय को अपने हित के लिए परमात्मा से विभिन्न कामनाओं के रूप में चाह सकते हैं वो चाहना हमारे लिए भी हो सकती है और जब हम दूसरों का हित करना चाह रहे हैं अपने संबंधियों का उसमें भी अपने हित के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं ये कामना कर सकते हैं और उनके हित के लिए भी यदि कभी कर रहे हैं तो ये हम अपने पुण्य कर्माशय का सदुपयोग कर रहे हैं उससे और अधिक पुण्य हम कमा सकेंगे तो इस प्रकार की प्रार्थना मंत्र में की गई है यदि हम कुछ इसकी व्याख्या ना करें तो ये मंत्र हमारे लिए आक्षेप का कारण बनेंगे और लोग इस तरह से आक्षेप भी करते हैं या तो कहेंगे इस तरह की प्रार्थनाएं ही व्यर्थ हैं जब सबको अपने कर्मों का फल मिलता है तो दूसरों के लिए हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं और सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना है उसकी इस सिद्धांत की अति में जाने के कारण से कुछ मत मत संप्रदाय ये मानते हैं कि दूसरे को कुछ भी सहयोग नहीं करना चाहिए वो अपने कर्मों को भोग रहा है कोई दुखी है परेशान है उसको भोगने दीजिए अपना उसका कर्माशय पाप कर्म कट रहा है सहायता मत कीजिए इस अति में भी चले गए हैं लेकिन ऐसे कुछ ही लोग हैं बाकी ऐसी सब जगह पर परोपकार की बात ही करते हैं क्योंकि वेद का आदेश ही यही है दूसरों का सहयोग करना दीनहीन का सहयोग करना ये परमात्मा का आदेश है हमें करना चाहिए योग्य व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए और इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए हम परमात्मा से और अधिक रक्षित होते हैं परमात्मा की रक्षा है वैसे विद्यमान ही है लेकिन इस प्रकार की प्रार्थना करके हम परमात्मा की और अधिक रक्षा को प्राप्त कर सकते हैं आर्यों को ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए आर्यों के मन में परमात्मा के प्रति इस प्रकार का भाव होना चाहिए इन मंत्रों में कहा गया है किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछे सत्येंद्र जी तो इनका प्रश्न है कि यदि हम अपने पुण्य कर्माशय से किसी को सुखी कर सकते हैं तो अपने पाप कर्माशय से दूसरे को दुखी भी कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसी एक भी प्रार्थना नहीं मिलेगी आपको वेद के अंदर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलेगा कि कोई दुर्जन ये प्रार्थना कर रहा हो ये तो हविष बनता है वयम दुर्जन के लिए कोई प्रार्थना हो कि अनार्य ये प्रार्थना कर रहा है कभी नहीं होगा पाप कर्मों का फल जितना और जिस रूप में है वो परमात्मा के द्वारा मिलेगा वो हम केवल इतना कर सकते हैं जैसा कि कल वाले मंत्र में बात रखी थी कि हमें पाप कर्म का फल अनेक रूपों में मिल सकता है इस रूप में भी इस रूप में भी इस रूप में भी हम कामना कर रहे हैं कि भाई परमात्मा इस रूप में फल मत देना किसी दूसरे ढंग से जिस रूप में बन अन्य विकल्प है उस रूप में दे देना इतना तो कर सकते हैं किंतु अपने पाप कर्म का उपयोग करके प्रार्थना करके हम दूसरे की हानि परमात्मा के माध्यम से करवा सकें कभी नहीं होगा क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ प्रार्थनाओं में ही उचित प्रार्थनाओं में ही सहायक होता है हाँ कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है कि पाप पूर्वक अधर्म पूर्वक कोई साधन उसने जुटा लिए हैं अस्त्र शस्त्र और उससे दूसरों को दुखी करे मनुष्य कर सकता है किंतु परमात्मा ऐसा कभी नहीं करेगा और ऐसी प्रार्थना करने के लिए परमात्मा आदेश भी नहीं देता है इसलिए ये केवल हमारे पुण्य के संदर्भ में है हम अपने पास प्राप्त चीजों का उपयोग अच्छे या बुरे उसके लिए दोनों के लिए कर सकते हैं यहां अच्छे के लिए प्रयोग करने की बात कही कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति की होगी तो हम हम्म। लोग नहीं पुण्य कर्माशय ये एक दूसरे तरह का दृष्टांत है कि किसी सज्जन को कोई दुष्ट व्यक्ति परेशान कर रहा है आर्य को अनार्य परेशान कर रहा है ऐसी स्थिति में आर्य प्रार्थना कर सकता है कि ये नष्ट हो जाए ये प्रार्थना अवश्य की जा सकती है और वेद में की गई है अनारियों के नष्ट होने की प्रार्थना की गई है पहले वाला प्रश्न भिन्न था हम अपने पाप कर्माशय का फल दूसरे को नहीं दिलवा सकते लेकिन ये स्थिति भिन्न है आर्य ये प्रार्थना कर सकता है परमात्मा से कि हे प्रभु ये दुष्ट व्यक्ति यहां से हट जाए इन दुष्ट व्यक्तियों का नाश हो जाए और ये प्रार्थना तब सफल होगी यदि हमारा पुण्य कर्माशय है आर्य का यदि इतना बड़ा पुण्य कर्माशय नहीं है और वो प्रार्थना कर रहा है तो नहीं सफल होगी हम जिस प्रकार से अपनी धन संपत्ति का उपयोग बाधाओं को हटाने के लिए कर सकते हैं हम अपने धन का उपयोग किसी सुख की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं और दुख की निवृत्ति के लिए भी कर सकते हैं हम अपने धन का उपयोग फल खरीद के सुख लेने में कर सकते हैं और हम अपने धन का उपयोग अपने आंगन में उगे हुए कांटों को हटवाने के लिए भी कर सकते हैं वो दोनों उचित हैं किए जा सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो दुष्ट हमारे लिए बाधाएं खड़ी कर रहे हैं उनको हटाने की प्रार्थना आर्यों को करनी चाहिए उनको हटाने का प्रयत्न भी करना चाहिए और वो अपने पुण्य कर्माशय में से यदि उनको हटवाना चाहता है उस रूप में कर सकता है और परमात्मा करेगा आप इसके उदाहरण बहुत देख सकते हैं बहुत मिलते हैं इसीलिए धर्मात्मा को कष्ट देना बहुत हानिकारक समझा जाता है उस धर्मात्मा के मन में भी अगर ये आ गया कि ये मेरे लिए बाधक है उसकी हानि हो जाएगी होना आर्य चाहिए होना पुण्यात्मा चाहिए परमात्मा की व्यवस्था से उसके मस्त मन मस्तिष्क की संतुलन की बहुत सारी बातें जो कल मैंने आपके सामने रखी थी परमात्मा किसी भी ढंग से कर सकता है ये और परमात्मा चूंकि आर्यों का सहायक है आर्यों के लिए हित करता है आर्यों के लिए ही ये इसने वसुंधरा दी है भूमि दी है इसलिए यदि उससे अनारियों को हटाने की प्रार्थना की जाती है तो वो गलत नहीं है उचित है ऐसा संभव है हम कर सकते हैं ऐसा और किन्हीं को पूछना है कुछ तीन बार ओम का उच्चारण आज की प्रार्थना को अभिविनय को मन में बनाते हुए ओ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सत्पुसत्